Thank iya, you. की दृष्टि से विचार करने पर वेदांत प्रस्थान के अनुसार यह सृष्टि स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति है अतएव उनका अभिव्यंजक संस्थान है तथापि स्वतंत्र रूप से वर्णन करने योग्य है परंतु श्रीमद भगवत गीता के दसवें अध्याय में विभूतियों का वर्णन है और वह क्रम पंद्रहवें अध्याय तक परिलक्षित होता है अर्जुन ने प्रश्न कर दिया केशु केशु भाव भावेशु चिंतियों से भगवान मरे आपके प्रकृति से भी अतीत है गोम्य भावों से सफलता पारंगत है यह भी प्राण से विविध है ऐसी स्थिति में जो आपका निर्गुण निराकार यह धर्म स्वरूप है सजाति विजाति स्वगत भय शून्य रूप है जब तक मेरे मन की सुगमता सुगम करती हो कठिन अतः क्रियासार भावसार वस्तुसार के रूप में आपकी स्फूर्ति है अतः किन किन भावों का आलम्बन लेकर मुझ शरीर के साधक के द्वारा आप चिंतन करने योग्य हैं आपका चिंतन में करूं तो किस प्रकार करूं तब भगवान ने विभूति और लोभ का वर्णन किया क्रियासार वस्तुसार भावसार के रूप में भगवान ने अपने विभूतियों का वर्णन किया इसका अर्थ यह है इस तत्वगुण की प्रगल्भता से जब भगवान की अभिव्यक्ति होती है तो उसमें चमत्कृति होती है उन सात्विक भावों का चिंतन करने पर चित्त में तत्वगुण का सन्निवेश होता है चित्त में जब सत्वगुण का उद्रेक होता है तब वह शुद्ध और समाहित होकर निर्गुण निराकार लोग निर्विशेष भागवत तत्व है उसमें संगीत होने योग्य यहाँ एक विचित्र बात है कि भगवान धारक है गामा होता है इस वचन के माध्यम से भगवान ने स्वयं को धारक सिद्ध किया भगवद गीता में ही श्याम सुंदर का एक वचन है मया लक्षण प्रकृति स्मृते सचराचरम हेतुनानेन कौंतेय जगत परिवर्तते एवं मेरी प्रकृति मेरे समाशित है मुझसे सत्ता चित्ता क्रेता प्राप्त करती है और वह सागर जंगम प्राणियों के सहित पृथ्वी पानी प्रकाश पर्वत आकाश से मंडित समग्र कार्य प्रपंच की संरचना करती है इसका अर्थ यह होता है कि प्रकृति भी भगवान से अधिकृत होकर चेतित होकर ही सृष्टि की संरचना में समर्थ है और प्रकृति वेदांत प्रस्थान के अनुसार भगवान की शक्ति है मायाम की शक्ति विद्या श्वेता स्वतंत्र का उद्घोष है वेदांत प्रस्थान में प्रकृति को ही माया कहते हैं और प्रकृति स्वतंत्र रूप से नहीं भगवान की शक्ति के रूप में स्थापित है इस दृष्टि से विचार करने पर भगवान प्रकृति के भी धारक होते हैं धारक यज्ञ जीव भी है परा प्रकृति का वर्णन भगवत गीता के साथ में अध्ययन में किया गया यह एकदम धार्मिक जगत व्यया इदम जगत धार्मिक परा प्रकृति रूपा जो जीव है और जगत को धारण करने वाली है लेकिन भगवान उसके भी धारक हैं जिस प्रकार काला कबूटा लोहा दाहक प्रकाशक अग्नि से तादात्म्यपन्न होकर स्वयं दाहक प्रकाशक बन जाता है तो अग्नि को दग्ध दग्धा कहते हैं जलाने वालों का चलाने वाले का वो भी चलाने वाला है इसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए जो तो परा रूप जीव है उसके भी धारक को घटवा भगवान ही सिद्ध होते हैं इस दृष्टि से यहाँ धर्म की सांकेतिक परिभाषा की गई मत्स्य पुराण के अनुसार महाभारत के अनुसार धारक तत्व का नाम धर्म है इसलिए धर्म की सूक्ष्म परिभाषा यह होती है कि भारतीय कोटि का धर्म और भूत कोटि का धर्म पूर्वोत्तर मीमांसा के अनुसार विचार करें तो पूर्व मीमांसा में भाग्य या भाग्य कोटि के धर्म का वर्णन होता है भाग्य का अर्थ होता है या भाग्य का अर्थ होता है निश्चय पूर्व मीमांसा के दृष्टि से विचार करने पर भूतम अव्याय यह सिद्धांत कल्पित होता है भूतम अव्याय जो कुछ भूत है सिद्ध पदार्थ है पृथ्व्यादि तत्व है ये सब के सब भाग्य के लिए भाग्य का मतलब यज्ञादि अनुष्ठेय कर्म की सिद्धि के लिए है इसका अर्थ यह होता है कि जो कुछ पृथ्वी आदि कार्य प्रपंच है व्यक्ति के संपादन के लिए उसकी संरचना है परंतु में संलग्न सिद्ध पदार्थ या भूतों का उपयोग और विनियोग भव्य अनुच्छेद यज्ञादि में भी है उत्तर मीमांसा के अनुसार यज्ञ दानेन तपसा न नाशकेन ब्राह्मण विशंति वेदांग है इसको हम लोग सांस्कृतिक भाषा में बोलते हैं तृतीय सूची तृतीया श्रुति का अर्थ होता है तृतीया विभक्ति घटित श्रुति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया तो सांकेतिक ढंग से हम लोग कहते हैं आपस में तृतीया श्रुति के आधार पर यह तथ्य सिद्ध है तो यहाँ पर तो सिद्ध होता है कि यज्ञ दान तर्क इत्यादि का भी उपयोग और विनियोग दिशा में है ब्रह्म वेतन की योग्यता जीवन में आ सके ब्रह्म विचार में हम दक्ष हो सके और अंत में ब्रह्मात्म तत्व होकर ही अवशिष्ट हो सके इस दृष्टि से विचार करें तो धर्म का जो रूप होता है उससे कोटि का धर्म है वो तो ब्रह्म ही है क्योंकि सर्वाधिष्ठान है उससे अधिष्ठित होकर ही प्रकृति और प्रपंच का अस्तित्व सिद्ध होता है लेकिन जो साध्य कोटि का धर्म है वो यह वेदांता इत्यादि है तो भगवान ने यहाँ कहा पृथ्वी में ओज के रूप में धारक तत्व के रूप में मैं स्थित हूँ और जितनी औषधियाँ हैं वनस्पतियाँ हैं इसका अर्थ होता है स्थावर प्राणी है उन सबको मैं परिपुष्ट करता हूँ इस दृष्टि से विचार करें तो महाभारत के वन पर सभा पर इत्यादि में बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से सौनक जी आदि महर्षियों ने इस तथ्य को ख्यापित किया है यह जो उष्णाम चौधरी सर्वा सोमोद्भूतवा वचन है इसकी व्याख्या विस्तृत रूप से महाभारत में परिलक्षित एक बार सन उन्नीस सौ बहत्तर की बात है मैं यहीं था उस बस आया ही था श्री राम सुखदास जी महाराज ने हमको कलकत्ता बुलाया वो गीता पर टीका लिखना चाहते थे सर्वप्रथम उन्होंने श्रीमद भगवद गीता के बारहवें अध्याय की टीका प्रकाशित की थी संपूर्ण गीता पर टीका लिखने का भाव मुझसे परामर्श लेने की दृष्टि से उन्होंने मुझे बुलाया और एक महीने कोलकाता में एक महीने मुंबई में आजकल के ड्यूटी से हमको अपने पास रखा लगभग दो तीन घंटे की गीता पर संगोष्ठी होती थी और जटिल पहलुओं का विचार होता है उसमें उन्होंने मुझसे कहा कि गीता की व्याख्या और उत्कृष्ट ढंग से सच सके इसके लिए कोई उपाय बताई अन्य का महाभारत महाभारत का ही अंश है भीष्म पर्व में पच्चीसवें अध्याय से चालीसवें अध्याय तक महाभारत में गीता सन्निहित है गीता की व्याख्या इतर पुराणों के द्वारा जो प्राप्त होती है मुख्य रूप से महाभारत का अध्ययन का करें तो स्वच्छ व्याख्या उपलब्ध होती है यहाँ पर भी सोमो भूत का रसायन का सत्ता में प्रयोग किया गया है इसकी बृहद वैज्ञानिक ढंग से विधा और व्याख्या का वर्णन महाभारत में अन्य है अभी पूरी जाना होगा तो पंद्रहवें अध्याय पर जो मुझे लिखना है उसमें उन तथ्यों को प्रकाशित करूंगा यहाँ केवल हमने संकेत किया कि जो स्थावर प्राणी है इनके भी पोषक भगवान स्वयं को बता रहे हैं लेकिन इनकी अभिव्यक्ति पृथ्वी से होती है पृथ्वी उपलक्षण है पृथ्वी के साथ धर्म तेज वायु आकाश अपेक्षित है पृथ्वी की प्रधानता से भगवान ने कहा लेकिन पृथ्वी के लिए धारक भगवान स्वयं है या धर्म की परिभाषा पृथ्वी जिनसे अधिष्ठित होकर सागर प्राणियों को अभिव्यक्त करती है वो तत्व भगवत तत्व ही है भगवान का कथन है कि मैं ही हूँ वो साकार वो के बिना धारणा शक्ति की प्राप्ति नहीं होती तो भगवान धारक है धर्म की जो सिद्ध मूर्ति की व्याख्या है वह भी श्रीमद भगवत गीता के माध्यम से अभिव्यक्त होती है कुंडियों बंधक विद्या यह राज्य से मोटी की परिभाषा है अभी हम महाराष्ट्र में थे परवणी जिला जागर जी गणेश जागर जी वहां थे प्रश्नोत्तर के संदर्भ में धर्म पूछा गया था मुझसे वहाँ पर मैंने धर्म की सिद्ध कोटि की परिभाषा क्या है उस पर प्रकार डाला था साध्य कोटि का धर्म किस प्रकार है दोनों मीमांसा के माध्यम से धर्म की उचित व्याख्या होती है यहाँ भी यही समझना चाहिए कि पृथ्वी के धारक भगवान जल के भी धारक भगवान देव के भी धारक भगवान वायु के भी धारक भगवान आकाश के भी धारक भगवान संख्या प्रस्थान की दृष्टि से आगे करें तो अहम तत्व के भी धारक भगवान है तत्व के भी धारक भगवान अंत में अव्यक्त प्रकृति या प्रदान के लिए धारक भगवान स्वयं भगवान कौन है सर्वाधिष्ठान है उनका कोई धारक नहीं है एक श्री रामानुजाचार्य महाभारत का जो भी दार्शनिक विचार है भाव है उसमें सुबालोपनिषद का मुख्य स्थान है और उसके बाद विभूति महानारायण उपनिषद वैष्णवों के लिए दिव्य है वैष्णव प्रस्थान जो पर चलता है विशेषकर गौरी समुदाय बल्लभ समुदाय इत्यादि का उसके मूल में कृपा प्रभुति महानारायणों के साथ संगीत है प्राय जो शंकर वेदांत या अन्य स्थानों पर गीता आदि में भाव व्यक्त किया गया है वो एक पाठ भी प्रदान कर सकते लेकिन कृपाण रूपी नारायणों की का अत्यंत विधिवत अनुशीलन करने पर वैष्णव प्रस्थान का उत्कर्ष स्थापित होता है फिर अन्य प्रस्थान के साथ उसका सामंजस्य भी साधा जा सकता है जिनको कृपाल विभूति महानारायणों के सर का दृष्टिकोण पता नहीं है वो प्राय भक्ति प्रस्थान में प्रवेश नहीं करता और भक्ति प्रस्थान की प्रक्रिया से अभिन्न होने के कारण वो कुछ विचित्र ढंग से हो जाते हैं इसलिए हमने संकेत किया यहाँ पर विचार करने की आवश्यकता है श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने सुबालों उपनिषद सबकी पंक्तियों को गीता भाष्य में उद्धृत करके बताया जो श्वेता सबका का नजर स्थान हो जिसका कोई व्यवस्थान न हो वही चरण कठोर हो सकता भगवान का व्यवस्थान कोई नहीं इसलिए भगवान चरण तत्व परम उपादान है अन्यों का परंपरा से और किसी का साक्षात से लय स्थान भगवान से दोस्त है महाभारत का अनुशीलन करें ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य का अनुशीलन करें सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा प्रकृति के लय स्थान है त्रिगुण के लय स्थान साक्षात भगवान सिद्ध होते हैं और त्रिगुण में परंपरा से अन्य तत्वों का विलय होता है भगवान का विलय किसी में नहीं हो सकता इसलिए वो लय विहीन होने के कारण चरम तत्व है जिसका कोई नया स्थान न हो जो चेतन अन्यों का परंपरा से या साक्षात लय स्थान हो वही चरम तत्व हो सकता है कठोर कठोपनिषद ने उसको कहा यहाँ पर भी समझना चाहिए कि भगवान धारक है पृथ्वी के धारक है पृथ्वी में जो उर्वरा शक्ति है वो भगवान की उपस्थिति के कारण है सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो भगवान के भीतर जिन पदार्थों का वर्णन वेदांत शास्त्रों में किया गया है उन्हें जो सत्ता चित्ता प्रियता प्राप्त है वो भगवान के सानिध्य से ही प्राप्त है अगर भगवान की सत्ता चित्ता प्रियता की स्फूर्ति नाम रूपात्म प्रपंच के माध्यम से ना हो तो नाम रूपात्म प्रपंच अपने अस्तित्व को सिद्ध न कर सके न उपयोगिता को सिद्ध कर सके जैसे कथक मुकुट नलाली को सुवर्ण भूषण ये सब है इनको सुवर्ण का सानिध्य प्राप्त है इनमें सुवर्ण की अनुमति है और इनकी उपयोगिता और इनकी सत्ता के मूल में सुवर्ण का ही संदिग्ध है इसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए कि हम आप जो भोजन करते हैं भोज्य पदार्थ हमको सुलभ होते हैं इसमें भगवान के अनुग्रह का अनुसंधान अपेक्षित है यहाँ दृष्टिकोण किया गया जा है प्रतिक्षण भगवान की अनुकंपा का अनुशीलन करना चाहिए अनुकंपा सुसमीक्ष महा श्रीमद भागवत में ब्रह्मा जी का वचन है ज्ञान या दृष्टि है कि हमको अन्न प्राप्त होता है हमारी दृष्टि वनस्पतियों पर जाती है औषधियों पर जाती है जिस प्रकार से अन्न पर जाती है अब अन्न की उत्पत्ति की प्रक्रिया का अनुशीलन करें तो भगवान के महत्व का हमारे जीवन में प्रकार हो होता क्या है एकाएक वेदांत वाली वृद्धि हृदय नहीं होती इसलिए प्रारंभ से ही भगवान के प्रति महत्व बुद्धि अंकित करने के लिए यह सब दृष्टिकोण अपेक्षित है गायत्री मंत्र में छंद की विधा से चौबीस अक्षर होते हैं यह सारी सृष्टि गायत्री मंत्र की व्याख्या है महाभारत के अनुसार उन्नीस और पांच कितने होते चौबीस उन्नीस प्रकार के वनस्पतियों का वर्णन किया गया है महाभारत और पंचभूत हो गए क्योंकि पंचभूत के बिना कर्मकर्ता कुल विद्या अधिष्ठागर प्राणी की उद्भावना नहीं हो सकती उन्नीस और पांच चौबीस हो गए ये गायत्री मंच के जाते हैं उसका सांकेतिक रूप से यहाँ पर चित्रण है महाभारत में अन्य इसकी पूरी व्याख्या है उन्नीस प्रकार के औषधि कारण वो लक्षण है उन्नीस प्रकार के स्थावर प्राणी होते हैं महाभारत सागर प्राणियों का उद्गम स्थान जो है वो पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश है अगर पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश का योग ना हो तो सागर प्राणियों की अभिव्यक्ति ना हो तो यहाँ समझने की आवश्यकता यह है बोलिए क्या हाँ तो, तो गया हमने संकेत किया किया भगवान अपने ओज का आधान करके सागर प्राणियों के अभिव्यंजक सिद्ध होते हैं उसमें द्वार पृथ्वी अब हमारे सामने होता क्या है उस रोज का हमको दर्शन नहीं हो पाता सामने पृथ्वी का दर्शन होता है पृथ्वी तक हमारी दृष्टि अंकित हो जाती है पृथ्वी का की दृष्टि सीमित हो जाती है इसलिए भगवान के परम ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं हो पाता जो हम भोजन करते हैं खाद्य पदार्थ हमारे सामने आता है उसमें भगवान का कितना हाथ है या क्या हाथ है प्रकारांतर से सब कुछ भगवान का हाथ है उनके अनुग्रह का दर्शन नहीं हो पाता यही भौतिकता होती है हमारी दृष्टि किसी न किसी भौतिक वस्तु पर केंद्रित हो जाती है तब हम वादी हो जाते हैं यहाँ पर दृष्टि चिन्मयी बनाने की विधा है उदाहरण के लिए एक्सरे की जो रेज होती है किरणें होती हैं वो वर्ष इत्यादि का बाल खाल का व्यवधान लेने पर भी अंतर्निहित अपेक्षित सामग्री का चित्र ले आती है इसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्म दृष्टि बनाने की स्पष्ट प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया यह है कि हमारी दृष्टि कहीं पर जाकर ब्रह्म तत्व के तले कुंठित या अवरुद्ध न हो जाए अपनी दृष्टि को ब्रह्मयी बनाने के लिए यह सब एक प्रक्रिया है तो सामान्य व्यक्ति भौतिकवादी कर्मता का गुण इत्यादि का अध्ययन करता है तब उन्हें प्राय प्राणी ही नहीं मानता न्याय के अनुसार दौदर प्रस्थान के अनुसार ये प्राणी सिद्ध नहीं होते दर्शनों की अपनी अपनी विधा है हम लोग इनको स्थावर प्राणी मानते हैं स्थावर प्राणी है जिनमें कर्मेंद्रिया है ज्ञानेन्द्रिया है अंतकरण है और प्राण है लेकिन धन सुशुद्धि की अवस्था नहीं है स्थावर प्राणियों के द्वारा धनगम प्राणियों का पोषण होता है श्रीमद भागवत में कहा गया कि जीव ही जीव के भक्ष्य होते हैं वहाँ पर जीव का है प्राणी छावर प्राणी का सेवन करके हम धनम पानी परिपृत होते हैं गेहूं चावल जौ मटर चना विभिन्न प्रकार की सब्जी ये क्या है सब छावर प्राणी है तो जंगम प्राणियों का पोषण छावर प्राणियों के द्वारा होता है इसलिए श्रीमद भागवत में कहा गया जीव ही जीव के भक्ष्य हो जाते हैं जीव का आत्मांबर प्राणी है जहनवी प्राणम का कर्ण विशिष्ट धातु का नाम जीव होता है अब जंगम प्राणी के जंगम प्राणी भी आहार हो जाते हैं छिपकली इत्यादि जो है पतंगे इत्यादि को खा लेती है चीटी आदि को खा लेती है मांसाहारी जो मनुष्य है वो जंगम प्राणी को भी खा लेते हैं शेर इत्यादि जंगम प्राणी को खा लेते हैं तो जंगम प्राणी भी जंगम प्राणी के आहार बन जाते हैं स्थावर प्राणी भी जंगम प्राणी के आहार बन जाते हैं लेकिन हम मनुष्य हमारे सामने जो भोज्य पदार्थ आते हैं उन पर विचार करना चाहिए इसीलिए चतुर्वेद यहाँ पर कहा गया पेय को लेकर पंचमी होता है भक्ष्यम पंच विधम भगवत पाठ शंकराचार्य महाराज ने कहा कि ये काम कम करते हैं तो पांच प्रकार के भक्ष्य होते हैं उनको सम्मिलित न करें अंतर भूल कर करने तो चार प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं हमारे सामने जो कुछ भोज्य पदार्थ चढ़ाता है अन्य को सुलभ होता है उसमें भगवान की कृपा का अनुदर्शन कैसे करें वो अन्य जो हमको सुलभ हुआ है उसके पीछे भगवान की साक्षात कितनी कृपा है और परंपरा से कितनी कृपा है इस पर विचार करने पर ब्रह्मी दृष्टि धीरे धीरे बनती है भगवान के अनुग्रह के बिना एक क्षण भी हम जीवित नहीं रह सकते हमारा सारा योगक्षेम भगवान की कृपा से ही बन होता है अन्न के बिना जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते लेकिन अन्य जन्म की जो प्राप्ति होती है उसमें भगवान का कितना योग है और किस क्रम से योग है यह समझने की आवश्यकता है तो भगवान अपनी उर्वरा शक्ति के द्वारा तेजस्विता के द्वारा आर्द्रता के द्वारा ये ओज के प्रकार होते हैं किस विज्ञान पर एक अलग चिंतन है पृथ्वी में जो उर्वरा शक्ति होती है नमी होती है वो जल को लेकर उसमें जो उष्मा का संचार होता है अगर भूमि में उष्मा का संचार न हो तो बीज अंकुर इत्यादि के रूप में परिणत नहीं हो सकते हैं वो क्या है तेल काम अंश है न पृथ्वी तो इसमें देखना चाहिए कि खेती में देखना चाहिए कि जल का अंश कितना है बालू के बल है छोड़ दीजिए उर्वर भूमि में नमी होती है तरलता जो है नमी जो है वो क्या है जल है स्पष्ट ही है अगर भूमि में जस पिता के लिए तेल का अंश न हो तो अन्न परिपक्व न हो अनाज बीज से अंकुर आदि की उत्पत्ति न हो वो है और इसी प्रकार से अगर उसमें जीवनी शक्ति होती है वायु के द्वारा उसमें जीवनी शक्ति होती है पृथ्वी भी सांस लेती है पृथ्वी में भी वायु का अंश होता है इसीलिए उसमें उर्वरापन है वो वायु के द्वारा है जल के संयोग से उर्वरता आती है पृथ्वी में अब कोला करना हो कोला करना हो तो भूमि को विदीर्ण करके तो बीज है अंकुर का वो दान कैसे करें ये सब दिव्य दृष्टि बनाने की क्रमिक क्रीड़ा है अब किसी बीज का दान कीजिए भूमि में उससे अंकुर इत्यादि उत्पत्ति होगी वहां पर पृथ्वी का स्वयं कितना हाथ है जल का कितना अंश है जल का क्या हाथ है जल कितने अंशों में वहां पर कारगर है इसी प्रकार बीज से अंकुर की उत्पत्ति में तेज का क्या हाथ है तेज को कितना अंश प्राप्त है अगर वहाँ तेज की विद्यमानता न हो अंकुर न हो वायु वहाँ पर किस प्रकार से गुप्त रूप से काम करने वाला है और अगर पर न हो तो पृथ्वी को उद्भिद प्राणी उद्भिद प्राणी तो तभी नाम पड़ता है ना उद्भिद प्राणी के तरल कार्बन इत्यादि है और पृथ्वी में कोलापन है तभी उसको प्रजीव करके अंकुर आदि की प्राप्ति होती है इस प्रकार ये कोल की व्याख्या भगवान जो पृथ्वी में बीज का आदान होता है फिर अंकुर इत्यादि से बीज का परिवर्तन बीज में होता है पत्र पुष्प इत्यादि में होता है उसके विधा का सांगोपांग वर्णन करेंगे तो जन के द्वार से भगवान क्या करते हैं तेल के द्वार से भगवान क्या करते हैं वायु के द्वार से भगवान क्या करते हैं आकाश के द्वार से भगवान क्या करते हैं इस प्रकार एक हमारी थाल में भोजन के पत्तल में पात्र में जो तो अन्न आता है उसमें पृथ्वी का कितना योगदान है पानी का कितना योगदान है प्रकाश पवन आकाश का कितना योगदान है फिर ये जो तेज है इनके जो प्रकार अंतर स्वरूप है अग्नि का क्या स्थान है यज्ञ होता है यज्ञ भगवती परजन्या तो यज्ञ होता है उसमें अग्नि की प्रधानता अग्नि का कितना योग अग्नि के साथ साथ वो जो उदाहरणीय सामग्री है उसको आप किस प्रकार सूर्य में जाकर आधान कर देती है सूर्य की तादात्म्य पत्नी अग्नि के साथ होती है तब जाकर आहुति सूर्य मंडल तक पहुंचने में समर्थ है ये विज्ञान है इसलिए यज्ञ विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो वर्षा के स्रोत का पता चलेगा वर्षा का ज्ञान होगा तो अन्य अभिव्यक्ति का विज्ञान होगा तो यज्ञ विज्ञान का यहाँ पर चित्रण कर लेना चाहिए बाहर क्या हो गया अग्नि तक उसके साथ सूर्य की तादात्म्य पत्ती हो जाती है तब तो अग्नि में जो आहुति निक्षिप्त करते हैं अग्नि द्रव्य का आधान करते हैं तो सूर्य के रश्मियों से तादात्म्यापन्न होकर आदित्य मंडल तक उसकी पहुंच होती है जैसे को भी रसम भूखे सूर्य भगवान अपनी रश्मियों के द्वारा जलाशय में जो रस होते हैं उसको तादात्म्यापन्न कर लेते हैं इसी का नाम भोग होता है हमारे पूरे गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज ने हमको भोग की परिभाषा बताई स्वात्म तादात्म्य पत्ति का नाम भोग है स्वात्म तादात्म्य पत्ति का नाम भोग होता है दर्शन शास्त्र में उसके लिए उदाहरण दिया गया सविता गोभी भी रसम भूनते सूर्य भगवान गोभी अपनी रश्मियों के द्वारा जलाशय में जो जल होते हैं जल मिठ जो रस होता है उसको अपनी रश्मियों के द्वारा आत्मसात कर लेते हैं और फिर अंत में उसको दिव्य जल का रूप दे करके वर्षा देते हैं आत्मसात करते हैं ये भोग हो गया सूर्य भगवान अपनी रश्मियों के द्वारा जलाशय मिठ जल गत रस रस को आत्मसात करते हैं स्वात्म तादात्म्य पत्ति का नाम यहाँ पर भोग होता है अब वो सूर्य भगवान में जो आहुति का सन्निवेश सूक्ष्म रूप से हो जाता है वो आदित्य मंडल में पहुंचता है फिर आदित्य मंडल से वो चंद्र मंडल में पहुंचता है मैत्रायणी उपनिषद मैत्रायणी उपनिषद के दो संस्करण है एक सौ आठ उपनिषदों वाला जो वॉल्यूम है खंड है उसमें छठा अध्याय है उपनिषद संग्रह जो प्रकाशित है उसमें छठा अध्ययन अतिरिक्त है उस छठे अध्याय में बहुत सी सामग्रियां अतिरिक्त हैं जो एक सौ आठ उन्नीस सौ वाले संस्करण में नहीं है तो हम दोनों को मिलाकर बोल रहे हैं तो वो आदित्य मंडल से जाकर के सोम मंडल में जाकर के आहुति टिक जाती है वहां पर और वहां पर क्या होता है फिर वहां पर नीचे एक अग्नि है ऊपर अग्नि है उस मंडल के बाद फिर एक अग्नि मंडल है मंडल है वहां पर सर्प गुण का उद्रेक है और जहाँ सर्प गुण का उद्रेक होता है वहाँ श्रीमद नारायण की परात्पर प्रभु की अभिव्यक्ति होती है श्रीमद भागवत चतुर्थ स्कंद का अनुशीलन कीजिए सत्वम विशुद्धम वसुदेव सर्जितम भगवान शिव का वचन है कि मैं तो प्रत्येक प्राणी में अंतर्यामी जिस देव श्रीमन नारायण का दर्शन करता हूँ दक्ष जी के आने पर दक्ष जी को लगा कि मैंने अभिवादन नहीं किया लेकिन मैं अभिवादन से टूटने वाला नहीं लेकिन मेरे अभिवादन की विधा क्या थी इसका ध्यान दक्ष जी को नहीं हुआ विधा क्या है सत्वम विशुद्धम वसुदेव संगीतम संगीतम संगीतम विशुद्ध सत्व का नाम वसुदेव है वासुदेव के द्वारा अभिव्यक्त होने वाले तत्व का नाम वासुदेव है तो विशुद्ध सत्व जो है हमारा आपका चित्त जब विशुद्ध सत्वात्मक हो जाता है तब वहाँ पर अंतर्यामी पर ब्रह्म परमात्मा की जो अभिव्यक्ति होती है उसी का नाम वासुदेव है हमारा आपका चित्त ही वसुदेव बन जाता है कब विशुद्ध सत्वात्मक होता है फिर वहाँ जो श्रीमन नारायण है वहीं के उन्हीं के अनुग्रह से फिर वर्षा का क्रम होता है ये वैज्ञानिक उपनिषद में मनुस्मृति में जो कहा गया उसके अतिरिक्त कुछ सामग्री वैज्ञानिक उपनिषद में है अब हम वर्षा पर विचार करेंगे अग्नि तत्व ये कालिदास ने उसका अपने ढंग से वर्णन किया धूम ज्योति शरीर इन सब का जो संघात होता है तब जाकर वर्षा की प्राप्ति होती है ये उपनिषद इत्यादि का आलम्बन लेकर कालिदास ने उसको अपने ढंग से अपने साहित्यों में अभिव्यक्त किया केवल वर्षा की जो विधा है उस पर विचार करेंगे भगवान के प्रति चित्त समर्पित होगा भगवान के अनुग्रह का विज्ञान होगा जैसे कोई माता पिता पीछे छिप कर बालक की दृष्टि का विषय न बनकर बालक के पोषण का सारा प्रबंध कर दे बालक को लगे कि मानो माता पिता तो मुझे छोड़ के या कुछ करते ही नहीं इसी प्रकार भगवान नाम रूपात्मक प्रपंच के कोट में रहकर किस प्रकार पामर से पामर विषयी से विषयी साधक से साधक सिद्ध से सिद्ध जो प्राणी है नास्तिक से नास्तिक आस्तिक से आस्तिक सबके योगक्षेम का मन किस प्रकार करते हैं इस विधा का नाम पर वर्णन है तो हमने संकेत किया ओज को जानने के लिए यहाँ समझना चाहिए पृथ्वी का ओज जल का ओज तेज में जो ओज है वो वायु का ओज फिर आकाश गत ओज फिर अव्यक्त या प्रकृति का ओज और अंत में ओज का पर्यवसान हो जाता है सचित आनंद में तो भगवान अपनी संधि संवित और लादनी शक्ति के द्वारा आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी को अपने बोध से उद्दीप्त करते हैं तब जाकर हमको अन्न की प्राप्ति होती है अब अन्न प्राप्त हो गया फिर यहाँ पर क्या चाहिए सोमो भूतवा का रसात्मक सोम नाम ये पूरा जो संसार है अग्नि सोमात्मकम विश्व अग्नि सोमात्मकम जगत पहले व्यक्ति का क्या नाम का सूत्र वृत्तांत हो अग्नि सोमान मकम विश्वम अग्नि सोमान मकम जगत ये पूरी जो सृष्टि है महाभारत के अध्याय में अग्नि सोमात्मक जगत कैसे है अग्नि और चंद्रमा का मिला हुआ स्वरूप जगत कैसे है इसकी वैज्ञानिक धरातल पर क्या क्या की गई है दार्शनिक तत्व को तत्व को तो है ही अग्नि और सोम का संघार किया गया है ज्ञान का सोमो बहुत करता है लेकिन सांयोग रूप के साथ अध्ययन एक तो सोम का नाम ले लिया और हम बहिष्कार भूल का कहकर अग्नि का भी नाम ले लिया सूर्य का नाम यहाँ पर नहीं है पहले ही अनादिगत हम थे तो जगत रहे थे कि हम नाम तो लिया इस प्रक्रिया में नाम नहीं है छांदो उपनिषद में कहा गया है अन्य की अभिव्यक्ति में सूर्य और चंद्रमा दोनों का योगदान जो ये विकसित होते हैं उनमें फल इत्यादि लगता है पुष्प इत्यादि का संसार होता है उसमें सूर्य का कितना हिस्सा है चंद्रमा का कितना हिस्सा है ये दोनों अनुग्रह होते हैं तब हम लोग पुष्प फल इत्यादि की प्राप्ति होती है सूर्य के बिना और चंद्रमा के बिना दोनों प्रकार की शक्ति चाहिए इसका मतलब यह सूर्य में क्या होता है प्रकाशक दोनों है अंतर्या है तापक होते हुए प्रकाशक सूर्य होते हैं लेकिन शीतल होते हुए प्रकाशक आह्लादक होते हुए प्रकाशक चंद्रमा होते हैं चंद्रमा में जल का अंश होता है प्रथम प्रधान सूर्य में जल का अंश प्रधान नहीं होता बल्कि तेल का अंश प्रधान होता है लेकिन सूर्य में सोम की धारा आती रहती है सोम रस से संतृप्त होकर सूर्य उद्दीप्त रहता है नहीं तो एक ही दिन में एक क्षण सबको जला दे इसलिए अन्य की उत्पत्ति में सूर्य का कितना स्थान है चंद्रमा का कितना स्थान है इस पर विचार करना चाहिए अंत में हमने भोजन किया अब यहाँ भी हम लोग तो दोपहर एक अग्नि चाहिए कौन से अग्नि पशु तो वैसा ही कोई घास घास तो खा लेंगे हमारे यहाँ तो चूल्हा भी चाहिए मानस भी चाहिए भंडार तो भोजनालय क्योंकि हम लोगों की जठरानी उतनी उद्दीप्त नहीं है जितनी पशुओं की होती है इसलिए हमको बाहर भी अन्न को पकाना पड़ता है रसोई घर में अग्नि चाहिए अब वो पक के आया हमने उसको प्राप्त किया लेकिन उससे भी काम नहीं चलता अंदर जठराग्नि चाहिए पशुओं को भी जठराग्नि चाहिए बाहर से रसोई घर नहीं चाहिए हमको बाहर से रसोई घर नहीं चाहिए अग्नि के द्वारा कोमल बनाकर खाद्य का रूप दे करके जो भोजन किया जाता है उसको पचाने की डाकडानी चाहिए भगवान शंकराचार्य ने उसमें न क्रम बताया था लोग के भाषण में गीता नाम के नारी क्या करती है अग्नि का पाचन कैसे होता है और धीरे धीरे मन का अन्नमय मन है ना मन कैसे अन्न बनता है इसकी प्रक्रिया चांदो के छठे अध्याय के बाद में मजबूत गणित से वैज्ञानिक ढंग से भगवान शंकराचार्य ने दी है कैसे वो नारियां उसके सूक्ष्म रूप को ले जा करके हृदय में सन्निहित करती हैं फिर किस प्रकार कौन सा अंश पहुंच करके मन को उद्दीप्त करता है यहाँ सोमों भूतवा रसात्मक बाहर रसात्मक सोम होकर भगवान अन्य को पुष्ट करते हैं और अंदर घटाग्नि के रूप में भगवान ही भोजन को पचाते हैं घटकाग्नि के माध्यम से तो हमारे जीवन में जीवनी शक्ति बनी रहती है और खाद्य पदार्थों के पाचन का प्रकल्प चलता है शोधन का प्रकल्प चलता है और हमारी इंद्रियों को हमारे अंतकरण को प्राणों को जिस प्रकार का आहार चाहिए जो आहार हम ग्रहण करते हैं उनका जितना सूक्ष्म अंश इनके पोषण के लिए चाहिए वो सब कचरा के ऊपर निर्भर है उसका विज्ञान देखना चाहिए सांदोष्टी के शंकर भाष में विस्तार पूर्वक है इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं भोजन को पचाते हैं अग्नि अग्नि को जो हम महत्व देते हैं वो महत्व भी इस पर जाना चाहिए अगर अंतर्यामी भगवान न हो तो अग्नि कहाँ से अग्नि के द्वार से भगवान हमारी दिनचर्या जीवन हमारे जीवन यापन में कितना हाथ बटाते हैं इसका यहाँ पर विज्ञान बताया गया भगवान चारों प्रकार के अन्न जठराग्नि के बता बचा लेते हैं इसका अर्थ है जब सामने भोजन आ गए पिछले सत्र में हमने बताया था तब ये कार्य पेट में नहीं डालना चाहिए चिंतन करना चाहिए प्रभो अन्य के रूप में आप ही प्रस्तुत हैं इस अन्य के रूप में आप ही प्रस्तुत हैं उपनिषदों में आया भगवान ही अन्न है भगवान ही अन्नाद है अन्नाद माने भोक्ता भोग्य भी भगवान है भोक्ता भी भगवान है और आंकड़ा खोला बोले तो ऐसा चिंतन करना चाहिए क्या भगवान से तादात्म्य प्रति करके मैं अन्न हूँ मैं अन्नाद हूँ मैं ही अन्न हूँ मैं ही अन्नाद हूँ यहाँ सोच लो विज्ञान है भगवान ही अन्न होंगे भगवान ही अन्नार होंगे तब क्या होगा भगवान शंकराचार्य ने यहाँ महाराज में लिखा इस प्रकार जो चिंतन करके भोजन करता है अन्न दोष से लिप्त नहीं होता चुट्टी भंग हो जाती है ना अन्न जब एक हो गए अन्न अन्ना जैसे भोगता भोग और भोग इसमें भोग कर भोक्ता को एक कर दीजिए दूसरी बनेगी क्या जब दो एक हो गए सब्जी नहीं बने यहाँ भी एक विचित्र बात है कि भगवान अन्न है और भगवान अन्नाद है भगवान नीचे अन्न है ऊपर अन्नाद है इस प्रकार का जब व्यक्ति चिंतन करता है तो अन्न दोष से लिप्त नहीं होता भगवान शंकराचार्य ने पंद्रहवें अध्याय के भाष्य में इस तथ्य को प्रकाशित किया तो भगवान अन्नाद कैसे हैं जटरानंद के द्वार से भगवान अन्नाद है अन्न के भोक्ता होते हैं और सोम के रसात्मक सोम के द्वार से भगवान अन्न होते हैं तो सोम भी भगवान ही है और अग्नि भी भगवान है अगर सोम रसात्मक सोम न हो तो ये जितने भोज्य पदार्थ हैं अन्न रस हमारे समूह प्राप्त न हो इसलिए अन्न को सोमात्मक समझना चाहिए और अग्नि जाठर अग्नि जिसमें हम आहुति देते हैं गीता के चौथे अध्याय का जो यज्ञ का प्रकार है वो यहाँ पर भी सन्निहित करना चाहिए हवनीय द्रव्य के स्थान पर हम चारों प्रकार के अन्य को ले भोज्य चोष ले आदि ये चारों प्रकार के पेड़ को लेना चाहे तो पंचविध भक्ष्य पदार्थ को ले आहुति के रूप में जठरानल जो हो गया वो क्या है अन्नाम के रूप में उसमें हम निक्षेप करते हैं तो फिर क्या हो गया दाह और दाहक का संगम जो है इसी का नाम यज्ञ होता है तो इस यज्ञ का चिंतन करें इसका अर्थ यह है रसात्मक सोम को हमने अग्नि में दाहक अग्नि में जाकर डाल दिया रसात्मक सोम को कैसे डालेंगे सोम चंद्रमा तो हमारे हाथ में नहीं है तो रसात्मक सोम की धारणा करें प्राप्त जो चतुर्विध अन्न है कि अन्न क्या है रसात्मक सोम है तो अन्न में रसात्मक सोम की भावना करके फिर उसको दशावनी जो हमारे पेट में है ही उसमें डाल दें तब क्या होगा अन्न और अन्नान की एक रूपता होगी ये यज्ञ हो गया गीता के चौथे अध्याय का जो यज्ञ है वो यहाँ आकर के पूर्ण होगा ये परिशिष्ट समझना चाहिए यज्ञ का शेष अंश है बहुत अंतरंग गया है रसात्मक सोम सोम का सोम को अग्नि रंग बनाकर अग्नि में डालें सोम तो हमारे हाथ में नहीं है धारणा के द्वारा डाल सकते हैं लेकिन जो अन्न आया है वो रसात्मक सोम ही है अगर रसात्मक सोम में हो तो अन्न की निष्पत्ति न हो तो चतुर्विक तो भोज्य पदार्थ जो हमारे पास आए हैं उनको हम क्या करते हैं चबाने आदि की प्रक्रिया से अग्नि में जाकर अग्नि में जाकर डालते हैं तो सोम और अग्नि एक हो गए अन्न अन्नाल की एक रूपता हो गई अन्न अन्नाल की एक रूपता हो गई का अर्थ हो गया भोग और भोक्ता की एक रूपता हो गई तृप्ति भंग हो तृप्ति भंग हो से तो ही अल्पमस दूर हो तृप्ति के जब तक तृप्ति है तब तक द्वैत है जब तक द्वैत है तब तक कर्मस है दोष है तृप्ति को भंग करने की विधा हाथ में लग जाए तब द्वैत भंग हो जाता है और द्वैत द्वैत द्वैत भंग हो जाने पर फिर क्या होता है एक उदाहरण लेकर प्रश्न को ग्रहण भोगा न भुगता वही मेरे को भुगता भारतीय ने कहा यह अन्य दोष कैसे व्याप्त होता है अन्य दो दो प्रकार के होते हैं श्री रामानुजाचार्य महाभार में छांदो शुद्धि के आठवें अध्याय का जो वचन है आहार शुद्ध और सत्व शुद्धि इसकी ज्ञान दिया गया जो भोज्य पदार्थ के शोधन की प्रक्रिया से की तो ठीक है न्याय पूर्वक अर्जित हो भगवान का स्मरण पूर्वक अमनिया इत्यादि करें भगवदर्थ भोजन बने नहीं तो ये पतंजलि आत्मकार भोजन देते तो हम पाता इसलिए भगवदन से भोजन बने भगवान को भोग लगे सात्विक भोग के सब अन्न की शुद्धि अंतरंग शुद्धि क्या है अन्न की ये सब तो होने चाहिए इनका खंडन नहीं है आहार शुद्ध हो सर्व शुद्धि सब प्रकार के यहाँ पर अंतः करना सब प्रकार के यहाँ पर अंतः करना सर्वम रूपा सर्वस्व श्रद्धा भगवती भारत का सत्रहवीं अध्याय में भी शब्द का अर्थ अंतकरण है सांख्यिकों सांख्यों की भाषा में उसको कहते हैं चित्त सत्व चित्त को सत्व कहते हैं इसका अर्थ क्या हो गया इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय जी ने कहा कि मैं तो लिप्त हो गया लिप्त क्या हो गया भोगान भोगता कहे भुगता भोग का अर्थ भोग पदार्थ भोग का अर्थ के नाम से भोग्य पदार्थ है भोग्य पदार्थ हमारे द्वारा क्या भोगे गए सचमुच में भोग्य पदार्थों के द्वारा हम ही भोग लिए गए केवल इसका अर्थ क्या हो गया अन्य दोष प्राप्त हो गया भरतीय जी की दृष्टि में जब कोई समझता है कि हम भोग्य पदार्थ को भोगते हैं तो निसंदेह वो भोग पदार्थों के द्वारा भोगा जाता है माने शेष के द्वारा शेषी भोग भी बन जाता है पंचदशी काल में बताया आत्मा वाले नवा हरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भगवती अनुष्ठ कामाय सर्वम प्रियम भगवती उन्होंने का अनुगारिका श्रुति है प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध है कि आत्मा में वृद्धि सर्वाधिक होती है अन्यों में वृद्धि आत्मा के लिए होती है लेकिन यह श्रुति श्रुति नहीं है स्वतंत्र राम का नाम श्रुति है अनुमानिका श्रुति है इसका तात्पर्य क्या है तो पंचदशी काल विद्यालय स्वामी जी ने बताया कि शेषी होकर शेषी जीव शेषी है जगत शेष है जगत शेष है जीव शेषी है शेषी होकर शेष की दास्ता न प्राप्त करना इसमें तात्पर्य पर सूची का बहुत सूक्ष्म आ गया ना पंचदशी कार्य ध्यान जीव हो गया शेष ही आत्मा आत्मतत्व हो गया शेष ही जगत हो गया शेष तो हम शेषी होकर शेष की दासता प्राप्त न कर हम्म। यह तात्पर्य निकाला भाजपत मुस्लिम ने यहाँ पर भोगा ने भोगता वही हुए भोगता हमने भोग पदार्थों को क्या भोगा हमारे द्वारा भोग पदार्थ क्या भोगे गए हम इन भोग पदार्थों के द्वारा भोग लिए गए यह सूक्ष्म आनंद दोष है इस सूक्ष्म आनंद दोष से मुक्त होने के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने कहा यह प्रकरण है उस प्रकरण को आत्मसात करने पर व्यक्ति क्या होता अन्य दोष से लिप्त नहीं होता एक बार चुटकुला सुना दें नौवीं कक्षा में जिसे हमारे सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में पढ़ते थे तो वो रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के अध्यापक आए किसी बत्तीस विद्यार्थी के किसी से कुछ अपराध नहीं हुआ था पता नहीं क्यों एक एक चाटे डालते सबके जन्म में इकतीस हम तो मौन रहे थोड़ा सा रोते हुए कहा गुरु जी ये तो बताओ दिल्ली की भाषा ऐसे होती है गुरु जी ये तो बताओ कि हम बच्चों ने क्या अपराध किया क्रिकेट चलते खान खा कर दिए पाठ तैयार है कुछ पूछा भी नहीं आके क्रिकेट चलते कर दिए बात क्या थी घर में नगर जगर जब घर झगड़ते आए होंगे मूड खराब होगा तो हम लोगों पर डाल दिया अध्यापक अब अध्यापक क्या कहते उनका दिमाग तो गया कि बच्चों का कोई अपराध है नहीं था क्रिकेट चलते उन्होंने उसको फॉलो क्लास में परिणत कर दिया उन्होंने कहा बच्चे तुम्हारे गाल पर तो मैंने एक एक चाटे धरे आपकी हथेली की दशा क्या है लालो हमने तुमको क्या चाटा धरा वास्तव में चाटे ने हमको जाते हैं देखो हथेली की क्या दशा हमने तुम्हारी क्या मिटाई की हमारी मिटाई होगी अब सुन जो हलवा होता है ना वो सोचता है कि हम बैल को जोत रहे हैं जब थक थक जाता है तो सोचता बहनों को हमने क्या बोलता बहनों ने हमने यही होता ना हलवा पूरी खाते खाते हलवा पूरी खाते खाते बच्चे रसगुल्ला खाते खाते जब डायबिटीज आदि हो जाए पेटिस हो जाए तो व्यक्ति सोचता है हमने क्या खाया नहीं को अन्नों ने हमको खा लिया नहीं इसीलिए कहा कि भगवान शंकराचार्य जी ने किस विधा का अनुस्मरण करके भोजन करता है तो अन्न गोष्ठ से लिप्त नहीं होता अर्थात भोगता और भोग की एक रूपता का चिंतन हो जाएगा तो अन्न दोष कभी व्यापेगा भगवान शंकर को तो नहीं अन्न दोष व्यापता है अन्य दोष का मतलब क्या है सबसे ज्यादा तो पाप शंकर शंकर भगवान को इसलिए भगवान शिव में आस्था बहुत कठिन है भगवान क्या करते हैं ब्रह्मा जी उत्पन्न कर देते हैं लोग आते जो ब्रह्मा जी ना होते तो ये सब काम होते हम काम भगवान विष्णु पालन करते हैं उनके पर श्रद्धा विष्णु कम है कोई पालन करे हम इत्यादि तो दे तो हाथ जोड़ेंगे और कोई मारेंगे खा ही दे तो, शिव जी मारता बहुत कठिन है तो कोई सबको खा जाते हैं <laughs> हैं तीनों एक है और शिव जी में आता बहुत कठिन है सबको खा जाते हैं किसी को छोड़ते नहीं तो फिर वहां पर क्यों नहीं दोष होता हत्या का दोष क्यों नहीं होता हत्या आप ईमान होता वहां इसीलिए भागवत का एक श्लोक है आत्मैव एकादश स्तंभ है आत्मैव तनिदम विश्वम सृजते सृजते प्रभो प्रायते प्राप्त विश्वात्मा जीते आरोपीश्वरा सर्जन हार भी पंजाबी टोन सर्जन हार भी भगवान और सिद्ध भी भगवान जिसकी रचना करते हैं वो भी भगवान रचयिता भी भगवान पानी भी भगवान पालक भी भगवान और संभारक भी भगवान समृद्ध होने वाले भी भगवान अब हो गया ना इन तीनों देवताओं को दोष क्यों नहीं लगता दस पांच बेटे बेटी को उत्पन्न करके व्यक्ति फंस जाता है मैं इनका पिता हूँ मैं इनकी माता हूँ बंधन पर गए और दस पांच व्यक्ति को भंडारा भोजन देकर के नारायण पूरी पाठ कहते दूसरे को इतने का भरत दूसरा नारायण यहाँ से होता है बन गए और एक दो का हत्या कर जाए तो हत्या लग जाती है मर जाते हैं ये तीनों देवता दोष से क्यों लिप्त होते सृष्टि संरचना अपने आप में भयंकर दोष सृष्टि का पालन भी दूसरे ढंग से बोल रहा अपने आप में भयंकर दोष सृष्टि का संवाद भी अपने आप में भयंकर दोष तो उसका रहस्य बताया श्रीमद भागवत में भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने आत्मय तमिलम विश्वम सृजते सृजते प्रभु त्रायते त्राते विश्वात्मा यते हरदीश्वर इस दृष्टि के कारण त्रिदेव जो है बंधन में नहीं बढ़ते इसी प्रकार अन्न को खाने वाले प्राय समझते अन्न ने हमको खा लिया वो बुढ़ापे में समझ पाते हमने अब तक अन्न को क्या कर दिया अन्न नहीं हमको खा लिया अन्न उपलब्ध है दिया थी हमने ज्ञान को भोगा उसी ने हमको भोग लिया तो अन्य अन्नाद की एक रूपता का ज्ञान होते भी यह दोष नहीं लगता है अन्य दोष से व्यक्ति मुक्त हो जाता है अन्न में ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्नि ब्रह्माग्नव ब्रह्माहुतम ब्रह्म चयन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि न व्याकरण के दृष्टि से भगवान शंकराचार्य ने इस श्लोक को तीन शब्दों में गुंफित कर दिया श्लोक के बारे में तो क्रिया कारक पर ब्राह्मण गंतव्य ब्राह्मण कर्म समान क्रिया कारक फल ये व्याकरण हो गया क्रिया कारक फल तीनों की एक रूपता का जिसको चिंतन हो जाता है ब्रह्म ही क्रिया है ब्रह्म ही कारक है और ब्रह्म ही फल है इसी प्रकार यहाँ पर अन्न और अन्नाद की एक रूपता का जिसको चिंतन हो जाता है वो अन्न दोष से युक्त नहीं होता ठीक सकल उद्देश्य निज उदर में तन निद्रास हो जोगी विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कहा तन निद्रास हो जोगी निद्रा सहित सोना तो सबको आता है तुलसीदास जी समाधि की व्याख्या की तन निद्रा हो गए जोगी कैसे सकल अदृश्य निज उदर में सकल अदृश्य निज उदर में तन निद्रास हो गए जोगी निद्रा तब के सोना इसी प्रकार से भोक्तृत्व और भोग्यत्व भोग्य और भोक्ता दोनों की एक रूपता का चिंतन इस प्रक्रिया से करें क्या अर्थ हो गया सोम के रूप में भोग्य अग्नि के रूप में भोक्ता तो भगवान ही भोग्य भगवान ही भोक्ता मैं ही भोग्य मैं ही भोक्ता दोनों की एक रूपता का चिंतन करने पर अन्य दोष से व्यक्ति तो नहीं होता मैं तो किसी श्लोक की व्याख्या करके आया था टिकाऊ ये श्लोक आ गया तो समझ लो भाव आया ठीक है चल रहे आपके यहाँ ठीक है नींद पूरी हो गई आ रहा हूँ जय राम जी राम